जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है और जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं खा हाँ तुम उनको जाहिर करो या छुपाओ अल्लाह तुमसे उनका हिसाब लेगा फिर जिसको चाहेगा मुआफ कर देगा और जिसको चाहेगा सजा देगा और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है